तो शुक्र शोणित से निर्मित नहीं है और दूसरी बात वो जो भगवान का दिव्य विग्रह है वो कर्म जनित नहीं है अमुक कर्म का फल भुगताने के लिए न्यूनता के द्वारा शरीर का निर्माण किया गया ऐसी चीज उनकी नहीं है वो सहज स्वाभाविक नित्य है और वो सच्चिदानंदमय है सचिदानंदमय देह तुम्हारी विगत विकार ज्ञान अधिकारी वो सचिदानंदमय है वहां पर कहीं भी किसी प्रकार से जड़ माया का संसर्ग नहीं है जड़ माया का संसर्ग कर्म जगत में होता है तो कर्म जगत से परे का ये भगवान का दिव्य चिन्मय स्वरूप है और ये पांच भौतिक नहीं और जो पांच भौतिक नहीं तो तीसरी बात है हानुपादान रहित है कि कभी बनता हो फिर बिगड़ता हो ऐसी बात नहीं ये प्रकट होता है छिप जाता है लेकिन प्रकट होकर छिपने में उनका अजत्व उनका अविनाशित्व उनका सर्वेश्वरत्व ये जो का त्यों कायम रहता जो प्रसन्न दे आत्मा नाम ईश्वरों कुसन कृत्रिम स्वामिष्टाय न्यात्म माया भगवान ने गीता में ऊपर की बात कही वहां पर भी ऐसा कहा कि मैं जो प्रकट होता हूं ये अजन्मा रहते हुए ही अविनाशी रहते हुए ही सारे प्राणियों का महान ईश्वर रहते हुए ही अपनी प्रकृति से प्रकृति माने स्वभाव भक्तानुग्रह कातरता प्रेमाधीनता भक्तवश्यता ये भगवान का स्वभाव है तो जहां किसी भक्त की इस प्रकार की उत्कंठा होती है जहां किसी प्रेमी का प्रेम भगवान को खींचता है जहां किसी वृत्त की पुकार भगवान के कान में पड़ती है तो भगवान का स्वभाव भगवान के नित्य स्वरूप को वहां उसके सामने प्रकट कर देता है निर्मित नहीं होता तो ये भगवान का जो शरीर है कि शरीर में तीन बात है ये नित्य है चिन्मय है और कर्म जनित नहीं है तो ब्रह्मा जी के ध्यान में ये बात आ गई फिर क्या है जितने भगवान के शरीर दूसरे दूसरे हैं वे सभी असमोध्य हैं उनमें छोटे बड़े की कल्पना नहीं करना अपराध है ये तो भगवान के निर्विशेष सविशेष जितने स्वरूप हैं सभी पूर्ण हैं नित्य हैं एक हैं एक ही के लिए अनेक एक ही के अनेक अभिव्यक्तियां हैं परंतु भक्तों ने प्रेमियों ने विशेष विशेष आंखों से विशेष विशेष चीजें देखी तो ये रूप गोस्वामी ने श्री कृष्ण के स्वरूप में चार चीजें विशेष देखी भगवान के गुण का वर्णन जो है उनमें पचास चीजें तो समान है सब और चार चीजें जो हैं ये श्री कृष्ण में अधिक हैं लीला प्रेमना प्रियाधिक्यम माधुर्य वेणु रूपयो इत्यासाधारणम प्रोक्तम गोविंद प्रतिष्ठयम एक तो अपने सखाओं के साथ प्रेम व्यवहार प्रेम व्यवहार भगवान के राम स्वरूप में भी है तो जिस प्रकार का खुला व्यवहार जंगल में घूमते हुए भमा चौकड़ी करना वहां राजकुमार है ना कुछ भी हो वहां राजकुमार हैं तो राजकुमार के सखा यद्यपि सखा मानते हैं यद्यपि भगवान रामचंद्र उनकी बड़ी प्रतिष्ठा करते हैं पर वो राजकुमार राजमहल में रहने वाले हैं राजोचित वहां पर सारा व्यवहार उनके साथ संलग्न है और यहाँ तो यादव कुल को छोड़कर ये ग्वाले नंद बाबा के घर में गा चराने वाले के गाय वाले के घर में आकर स्वयं ये विराजमान हैं खेलते हैं तो यहाँ अपने पार्षदों के साथ प्रेमी भक्तों के साथ जो प्रेम व्यवहार है ये इसी रूप की विशेषता है और कहीं नहीं दूसरी बात ये जो प्रियाधिक्यता ये पार्षदों के साथ जो इनकी लीला है इनके जो प्रेम का ये समुद्र यहां पर जो बढ़ा रहता है निरंतर ये बाढ़ कभी रुकती नहीं क्योंकि ऐश्वर्य बीच में आता है तो ऐश्वर्य का भी कोई असर नहीं होता यहाँ पर इतना प्रेम का आधिक्य है कि यहाँ ऐश्वर्य बीच में आता सेवा करने के लिए तो ऐश्वर्य आकर के विलुप्त हो जाता है उस प्रेम की अधिकता में बह जाता है कहीं टिक नहीं पाता और रूप में बात नहीं अभी नृसिंह रूप कूर्म रूप मत्स्य रूप ये तो सारे के सारे ऐश्वर्य रूप हैं ही भगवान राम के स्वरूप में माधुर्य भी है और ऐश्वर्य भी है भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका रूप में प्रधान ऐश्वर्य है मथुरा रूप में भी प्रधान ऐश्वर्य है माधुर्य भी है परंतु ये श्री कृष्ण का जो यहाँ का ब्रज का रूप है वृंदावन का रूप इसमें तो इतना प्रेम का प्रवाह अधिक अधिक बहता रहता है कि यहाँ पर ऐश्वर्य को कहीं टिकने के लिए प्रकट होने के लिए जगह नहीं मिलती किसी भक्त के हृदय में वो तो देखता है कि ये बच्चा सुर को मार दिया सकासुर को मार दिया तो ये समझता है कि ये हमारे हमारे सखा का खेल है ये खेलना जानता है और कहीं माता पिताओं के सामने ऐसी बात आती है तो समझ लेते हैं ये नारायण की कृपा है नारायण जी सुदेव हमारे हैं सुदेव बच्चे को बचाते रहते हैं और इस देव के द्वारा ही ये सब विघ्नों का नाश होता रहता है ये थोड़ी कर सकता है अरे ये नन्हा सा बच्चा ये कहीं बक्सा सुर को सुर को और ये बगासुर सुर को मारेगा क्या ये कुछ नहीं मार सकता दो उंगली रस्सी छोटी रह गई नहीं बांध सकी मैया नहीं बांध सकी और जब साधन का अभिमान जाता रहा तो कृपा से दृष्टि गई भगवान बंध गए तो यशोदा मैया ने सोचा रे रे राम राम ये तो ये नाच कूद रहा था फांद रहा था तो मैं गांठ लगा नहीं सकी रस्सी जोड़ती मेरी भूल थी ये कमर तो वही कमर दूसरी तो ये अब कैसे बनता बंद गया ना ये वही नन्ही सी कमर पहले वही नन्ही सी कमर अब कहीं भी टिकता नहीं है ऐश्वरी और तीसरी चीज ये वेणु का श्री विग्रह का जो माधुरी है कहीं भी किसी अवसार में भी कहीं भी भगवान ने वंशी नहीं बजाई शंख वंख तो बजाए बहुत रण में भी बजाए रेडी बजाएंगे शंख रण क्षेत्र में सारथी वाले भी शंख बजाएंगे लेकिन वहां मुरली नहीं है मुरली का जो मधुर रव है मधुर ध्वनि मुरली की ये केवल यही है और कहीं नहीं तो भगवान ने ये रूप माधुरी और वेणु माधुरी और इनका स्वरूप ये इनके स्वरूप का जो माधुर्य है श्री कृष्ण के स्वरूप का ये माधुर्य बड़ा विलक्षण है यूँ तो भगवान में भगवान का जो जो सौंदर्य है उसमें तीन चीज खास है एक तो उस सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं है एक बात दूसरी बात वो सौंदर्य नित्य वर्धनशील है तीसरी बात उसमें ऐसा विलक्षण जादू है कि देखने वाले का चित्त कभी वहां से हटना चाहता ही जितना देखे उतना देखने की लालसा बढ़ती है बड़े बूढ़े भी ये जब यहां तो बाल लीला है और इनका जब किशोर वयस ये बूढ़े भी किशोर ही रहते हैं भला लोग पूछा करते हैं बोले आप चित्र बनाते हैं उनमें दाढ़ी मुछ नहीं करते क्या दाढ़ी मुछ नहीं आई तो मनुष्य मानने वालों के कहते ये प्रश्न तो ठीक है पर ये प्रेमी भक्तों का अनुभव है कि भगवान बूढ़े होने पर भी नित्य किशोर रहते हैं उनका जो किशोर है ये कभी अंतर्हित नहीं होता तो भगवान के रूप में तीन बात है देखते देखते कभी भी उनका देखने वाले का मन हटता नहीं बल्कि देखने की लालसा नित्य नई बढ़ती रहती है और वो रूप नित्य नहीं बचा रहता तुम और और उनका वेणुमाय ये तो ऐसा है कि ब्रह्मा जी भी ये सब के सब मोहित हो जाते हैं बंसरी की ध्वनि सुनकर के मामूली और कोई बाजा बाजा नहीं बढ़िया बाजा नहीं बांस की बांसुरी बांस से बनी बांसुरी और छेद किए हुए बस दो दो उपकरण के पास अंगुलियां और अधर अधरों पर रखा और अंगुली फिराने लगी अब जो स्वर निकले उसमें से वो स्वर सारे विश्व ब्रह्मांड को विमोद करने के लिए पर्याप्त तो भगवान के श्री कृष्ण के रूप में ये चार बातें विशेष हैं लीला प्रेम प्रियादिक्यता वेणु का वंशी का और सौंदर्य स्वरूप का बपू का माधुरी ये चार बातें विशेष हैं और फिर ये चार बातों में यहाँ इन्होंने और बात देखी कि यहाँ किसी अधिकारी अंधिकारी का कोई विचार नहीं भैया कौन है कितनी विद्या पढ़ी है कितनी अब नौकरी रखते हैं तब भी पूछते हैं भाई तुमने कहां कहाँ पर क्या क्या डिग्री पास की है तुम्हारा पूर्व का इतिहास क्या है तुमने कहा नौकरी की है क्या अनुभव है पहले का ये इसके बिना नहीं काम चलता पर यहाँ पर पहले की कोई बात नहीं देखनी है पहले कोई क्या रहा हो भगवान नहीं देखते ये नहीं देखते कौन है किस जात का है नहीं देखते विद्वान है कि मूर्ख है नहीं देखते बुरा जवान बालक स्त्री नहीं देखते ये देखते हैं किसके हृदय में रस का प्रवाह प्रेम का प्रवाह बहने के लिए स्थान है कि नहीं बस जहां वो स्थान देखते हैं वहीं अपने प्रेम रसधारा उड़ेल देते ये भगवान ये उन्होंने अपनी आंखों से ब्रह्मा जी ने देख लिया तो बोले ये कवल मित्र विषाण में ये, ये सब बात कही तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम हमारे काले काले में क्या देखते हो तो ब्रह्मा जी ने कहा कि ये काले में तो सब कुछ समाया है ये जो काला है इसमें सब समा गए पर ये काला रूप जो है ये बड़ा हुआ नहीं है ये काला रूप स्वेच्छामय है ये अपनी इच्छा से ही प्रकट हुआ है और प्रकट हुआ है हम लोगों के लिए हम लोगों पर कृपा करके किसी कर्म फल भोग के लिए या किसी और उद्देश्य को लेकर ये प्रकट नहीं हुआ इसके प्राकृत्य में कारण है केवल हम लोगों पर अनुग्रह और ये बना हुआ है बस प्रकट होने के लिए ही बना नहीं ये स्वेच्छामय है जब इच्छा जहां हुई वहीं प्रकट हो गया तो ये पांच भौतिक नहीं और बोले आपका जो सच्चिदानंद घन ये विग्रह है इसको जान कौन सकता है इसकी जो महिमा है वो अनंत महिमा है आत्मानंदानुभव रूप जो आप हैं ये कौन जानता है उस उसकी महिमा नहीं जानता रहो यहाँ तो रसराज महाभाव रूप में आप प्रकट हैं सच्चिदानंद महता को भी जानना बड़ा मुश्किल और यहाँ तो रसरूप रसराज और महाभाव रूप से भगवान ये स्वयं प्रकट हैं तो आपकी महिमा ये तो अवतारों को महिमा नहीं जानते निर्विशेष अंश की महिमा नहीं जानते यहाँ जो स्वयं अवतारी स्वयं भगवान श्याम सुंदर ये प्रकट हैं तो आपकी जो अचल अमित महिमा है इसको कौन जानता है तो कहते हैं महाराज बस मैं तो इस नंद नंदन बाल स्वरूप भगवान श्याम सुंदर के चरणों पर अपने आप को न्यौछावर कर देना चाहता हूं कहीं भगवान दूसरी बात कहने दें बीच में भगवान की महिमा की बात कहते कहते अंत में तो ये लुट पड़ेंगे चरणों में फिर बोले महाराज कहीं और बात मत कह देना मुझे तो बस इस ब्रज में रखना और ब्रज के लोगों की चरण धूली मुझे मिलती रहे यहाँ की मूर करद मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति कराए ब्रज रज उड़ी मस्तक चढ़े मुक्त मुक्त रह जाए ये बेचारे मुक्ति जो है ना मुक्ति ये मुक्ति नित्य मुक्तों के बंधन में रहती है वो लोग मुक्ति को बांध रखते हैं ना मुक्त लोग मुक्ति को बांध रखते हैं अब मुक्ति कब छूटे मुक्ति को जहां बंधना न पड़े मुक्ति की आवश्यकता न हो तो बोले भक्ति तो संसार में किसी को आवश्यकता नहीं है बोले सबको आवश्यकता है इनको किसी को बांधे देखें संसार में किसी चूहे को भी और किसी पिंजरे में बंद करो तो मुक्त होना चाहेगा कोई चाहे कहे नहीं चाहे मुक्ति मैं न जानता हो पर सभी को बंधन का अनुभव है और सभी बंधन से छुटकारा चाहते हैं पर जो ये प्रेमी भक्त हैं ये मुक्ति से कहते हैं कि तुमको दूर से नमस्कार हमारे यहाँ आना मत तुम तो मुक्ति बिचारी कहती कि यहां तो हम मुक्त हो गई ये प्रेमियों के दरवाजे पर हम मुक्त नहीं हमें नहीं बजना पड़ता मुक्ति मुक्त हो जाए मुक्ति मुक्त हो जाती है ये भगवत प्रेमियों के चंद्रज रज के पास जाकर के और दूर से मुक्ति भी देखा करती है लीला को ये मुक्ति कहती है कि ये क्या बात है हमें तो लोग समा जाते हैं तो लीला वेला बंद हो जाती है और भगवान की माधुरी भी देखने को नहीं मिलती फिर तो मुक्ति वहां पर दुखी होती है ये बड़ा सुंदर प्रसंग एक जगह पर है मुक्ति का दुख मुक्ति का दुख क्या है कि मुक्ति रसलीला को देखने के लिए कभी अधिकारी नहीं होते जिसके पास जाती उसे उसे अनधिकारी बना देती है और स्वयं तो अनधिकारिणी है ही तो मुक्ति बड़ा दुख प्रकट करती है अपने मन में कि किसी प्रकार से मुझे भी लीला दर्शन करने को मिले तो मुक्ति गोपी होना चाहती है पद्म पुराण में ये कथा आती है कि ब्रह्म विद्या मुक्ति स्वरूपा उसने तपस्या की है ये पद्म पुराणी कथा है ब्रह्म विद्या ने तपस्या की है कल्पों तक ये गोपी बनने के लिए क्यों गोपी बनने के लिए कि श्री कृष्ण का जो मधुर रस विहार है ये मुक्तों को नहीं प्राप्त होता कोई कोई मुक्त इधर ढल पड़ते हैं तो वो मुक्त निरादरी भगत लुभानी ऐसे कोई कोई इस जमाने में भी हुए ये मुस्लिम सरस्वती रहे बड़े भाई अद्वैत ज्ञानी वेदांत के शिरमौर पंडित जिन्होंने लिखा है अद्वैत सिद्धि ऐसा महान ग्रंथ ये महाराज मुक्त तो हो ही गए थे पर इन्होंने देखा कि मुक्ति को बांधना नहीं है अपने अपने गले तो और कहीं बंध गए ये और कहीं बंध गए तो बोले ये ये बोले कि हमको तो क्या चाहिए अभी जो रोज श्लोक होता है वंशी विभूषित करा नव नीरदा भात पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरोष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखात अरविंद नेत्रात कृष्णात परम किमति तत्व महम न जाने घूम गए रूप का बंधन भला तत्व का बंधन नहीं जिनके कर कमलों में वंश वंशी सुशोभित है जो नवनील अमीर वर्ण है जो पीतांबर पहने हुए हैं जिनके लाल लाल बिंदा बिंदा फल के समान वो अरुण ओष्ठ हैं अधर हैं जो पूर्ण चंद्र के समान जिनका आधायुक्त मुखमंडल है और जिनके दिव्य नयन है अरविंद नेत्रात कमल नयन है ऐसे श्री कृष्ण के सिवा किसी और तत्व को हम नहीं जानते ये भूषण स्वामी ने कहा भी क्यों नहीं जानते हुआ क्या तो फिर क्या करें हम जा रहे थे तो कहीं और और कहीं फंस गए अद्वैत दीथी पथिक रूपासिया स्वराज सिंहासन निर्लब्ध दीक्षा सठे निकेना स्वयं हठेन कृता गोपवधु बिठेन ये गोपियों के पीछे पीछे भटकने वाले श्याम सुंदर बन गए इनके गुलाम अब क्या करें नहीं तो हम तो सबके सिरमौर थे सुन हो गए थे सब लोगों के सब लोग पूछते हमसे पर अब तो दूसरी बात हो गई एक दिन ये बैठे एक, एक श्लोक सुना दो बड़ा मत एक दिन ये बैठे मधुसूदन स्वामी अपने आश्रम में बहुत से सब शिष्य लोग थे अंतेवासी वहां पर सब लोग वेदांत का अध्ययन करें और वेदांत उनके मन से केवल अध्ययन अध्यापन की सामग्री रह गया था रस सामग्री नहीं करा रहे थे अध्ययन अब करते करते मन तो जाना वो उधर लग गया ना तो उधर से हटकारी मुश्किल से हटाते हैं पर फिर चला जाता है तो पहुंच गए वो नंद बाबा के आंगन में मसूद साहब नंद बाबा के आंगन में पहुंच गए और वहां का दृश्य देखा फिर बाहर निकले तो एक सखी मिल गई तो सखी तो गए थे वहां पर तो सखी को अपना अनुभव कहने लगी इस जगत में पहुंच गए अब कहा तो शिक्षा दे रहे थे वेदांत की तो सूत्र बता रहे थे बताते बताते बोले अरे सखी मैं सुनो तो अब सब के सब वो अध्ययन करने के लिए बैठे हुए लोग लोग चकित हो गए बोले ये गुरु जी पागल हो गए क्या गुरु जी को नाज हो गया सखी कौन है यहाँ पर है मैं सुन सखी कौतुक लेखम नंद निकेतांगण मैं दृष्टम गो धूरी धूसरितांगो नृत्य वेदांत सिद्धांत बोले सखियों या सुनो बात सुनो सखियों बात तो सुन ले